लागत सर धावा रिस भरा उसके क्रोध भी आया और क्रोधित होकर के वो दौड़ा और पुधर डगमग से दौलत धरा और जब वो चलने लगा तो इतना भयंकर शरीर उसका ये है कि जमीन हिलने लगी और पहाड़ जोड़ने लगे मन उसकी शक्ति को सूचना देने के लिए जो बात शक्तिशाली है तो कैसे समझ में आ सकती है जब पृथ्वी हिलने लगे जिसके चलने से तब लगे कि हाँ बड़ा शक्तिशाली जब पहाड़ हिलने लगे तब मानो बड़ा बड़ा शक्तिशाली तो कुदर टगमगत और दौलत धरा और नीन एक सही पाटी कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़ दिया बाहर का पर्वत लिया और उखाड़ दिया और रघुपुर तिलक भुजा सुई काटी वो पर्वत लेकर के फेंकनी चाहता था भगवान के ऊपर लेकिन वो फेंकने पावे उसके पहले भगवान का बाण आया और उसकी उसकी भुजा में लगा माने जो उसकी दाहिनी भुजा थी पहले उसने पर्वत उठाया और दाहिनी भुजा से लेकर के जैसे दाना फेंकने के लिए तब तक बाढ़ आकर के लगा उठी हुई बाढ़ में और बात तक से पर्वत है गिर गई हम्म। और धावा बाम बाहु धारी तो उसने सोचा चलो बाया हाथ कट गया कट जाने दो दाहिना हाथ कट गया कट जाने दो बाया हाथ तो है उसने झट से बाएं हाथ से वो पर्वत फिर उठाया और लेकर के बाएं हाथ से फेंकने लगा तो बाएं हाथ से पर्वत लेकर के दौड़ता है तो कहता कि धावा बाम भाव गिरधारी बाएं हाथ में पर्वत को धारण किए हुए दौड़ा ये भी गिरधारी बन गया हाँ, देखो लिए हुए पर्वत दौड़ता है और पर्वत को भुजा काटे में पारी अब भगवान ने भी वो बुझा दी एक बाह मारा तो बाहें बुझा दी कट गई और पर्वत गिर पड़ा बिना अब दोनों बाहें उसकी कट गई अब दोनों बाहें कटा हुआ दो पैरों से खड़ा हुआ है बाहर शरीर है सिर है लेकिन बाहें नहीं अब ये रूप उसका हो गया अब अहंकार कैसे नष्ट होता है अब उसको भी ज्यादा विवेचन करने में रस नहीं रह जाता विचार करने में रस है उसको आप देखो कि अहंकार कैसे नष्ट होता है उसके हाथ से पहले कटते हैं है? हाँ? फिर उसका सिर कटता है पैर कटते हैं घर कटता है कैसे कैसे कटते हैं कैसे कैसे मरता है वो देखो तो काटे भुजा तो खल कैसा कहते हैं अब जब दोनों भुजाएं कट गए तो वो निशाकर कैसा सुंदर दिखाई देता है सोवर सुंदर दिखाई देता है और निशाकर की अपनी सुंदरता क्या जितनी भयंकर हो उतनी सुंदर अब उसकी भयंकरता और बढ़ गई और कैसा दिखाई देता है न मंदिर गिर जैसा जैसे कि पर्वत हो और मंदराचल पर्वत हो और उसके पंखी कट गए तो ये कहा पर्वत और कहा पंखे अब जो पुराण की कथाएं जानते हैं उनको मालूम होगा जब सृष्टि रचना हुई तो पहले जब पर्वतों की रचना हुई तो पर्वतों के पंखे भी थे और ये पर्वत जो है जैसे पक्षी होते थे तो पर्वत भी उड़ते थे भारी भारी पर्वत उड़ते थे इंद्र ने क्या किया कि देखा कि पर्वत जगह जगह उड़ते हैं जगह जगह गिर पड़ते हैं तो सृष्टि में और पृथ्वी के बैलेंस बनाए रखने में बड़ी बाधा पड़ती है तो इंद्र ने अपने पंचर से इन पर्वतों से पंखे काट दिए आज तुम पंखे लायक नहीं हो जिससे से भारी शरीर है पंखे से लेकर के उड़ोगे तुम सब सत्यानाश ही करते रहोगे तो हमने पंखे काट दिए पंखे काट दिए तो जगह जगह जहाँ गिर पड़े तो हम से रह गए अब अब वो अब उड़ नहीं पाते पर्वत नहीं तो पहले उड़ते थे अभी हाल में अखबार में देखा कि ऐसे पर्वत जो है वो अब भी आकाश में उड़ रहे हैं वैज्ञानिकों ने पता लगाया उनको उन पर्वतों को आज तक धूमकेतु कहते हैं ये पृथ्वी से दूर जहाँ तारे वायुमंडल से बाहर ये सब उड़ते रहते हैं यहाँ पर और कितने कितने बड़े हैं लाखों के लाखों के करोड़ों की तादाद में है ये धूमकेतु और इतने इतने बड़े जिस कितना बड़ा एक नगर हो दस बीस मील का इतने से बड़े हैं कोई कोई जो है वो पचास पचास मील के बराबर के हैं इतने से बड़े हैं कोई कोई और छोटे हैं इतने इतने छोटे भी हैं जितना कि एक भवन हो जैसे इतना बड़ा हॉल है बस इतना बड़ा जो वो हो उड़ रहा है तो जैसे कोई छोटा पत्थर हो तो ऐसा पत्थर है आसमान में उठते रहते हैं और जब वहाँ होते हैं तो उनसे धूल झरा करती है और झरते वो धूल वायुमंडल में आकर के पृथ्वी पर आती रहती है बहुत ही केमिकल्स उनमें है वो भी झरते रहते हैं ओम प्रभाव से कहते हैं तो अब जो यहाँ पर वैज्ञानिक लोग जो पता लगा रहे हैं विज्ञान के द्वारा इन ऋषियों को अपने पौराणिक रूप से अपना दिखाई देता है जिन्हें कहा दिखाई देता था कि पहले पर्वत थे और ऐसे उड़ते थे फिर तो उनके पंख काट दिए ये कर दिए वो कर दिए जिन्हें क्या था उनको सूचता है सब इस प्रकार से ये कहते हैं कि काटे भुजा तो खल कैसा पक्ष ही मंदिर गिर जैसा ये ढूंढ के जो आकाश मुड़ते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं वायुमंडल के अंदर तो आकर के जहाँ आ गए तो उसके बाद फिर उनकी गति भी तीव्र हो जाती है और वायु का घर्षण होता है तो वो सब पत्थर जल उठते हैं और जल करके वो लाल लाल चमकने लगते हैं और चमकता हुआ जब वो कहते नहीं कि वो उल्टा पात हुआ और तो चमक तारा टूटा ऐसे दिखाई देता है तो यही के जो है ये पत्थर ये तारा टूटने जैसे जो है पत्थर जब वायुमंडल में आ जाता है तो चमक उसका जल उठता है <clears throat> और वायुमंडल में आकर के जल इसलिए उठता है कि जल करके वो छार हो जाए जब तक धूल में आकर गिरता है तब तक धूल भूल बन जाता है वो और कभी कभी बांस टुकड़ा रह जाता हो तो जमीन पर गिरता है तो कहीं कहीं उसका बाद में पत्थर जो है बोम के कहीं कहीं रखे हुए जाए घरों में रखे होंगे तो वहाँ वो समय ये सारा टूटा गिरा और जमीन में इतना गड्ढा हो गया निकाल करके उन्होंने प्रदर्शनी के लिए उसमें रख दिया गया तो देखते हैं इस प्रकार के पत्थर जो है आसमान में होते रहते हैं ये मंदिर गिर जैसा उग्र विलोकन प्रवन विलोका और फिर वो जो है जब उसके दोनों बाह पटे अब, अब युद्ध कैसे करे तो दोनों बाहें तो उसकी कट गई तो फिर भी वो उसने उग्र विलोकन के मैंने बड़ी घूर करके बड़ी भयंकर दृष्टि से उसने भगवान की तरफ देखा क्रोध करके भगवान की तरफ देखा और ऐसे देखा कि कृष्ण चाहत मानव तरह लोका वो क्रोध करके तीनों लोगों को निकल जाना चाहता है ऐसा उसने क्रोध करके भगवान की तरफ दौड़ा और करके कारक हो रहे अभी धावा बदन पसार बदन पसार में मुँह फैला कर बदन के मैंने संस्कृत में बदन कहते हैं शरीर नहीं उर्दू में बदन सारे शरीर को कहते हैं संस्कृत में बदन मैंने मुंह मुँह फैला करके वो भगवान की तरफ वो दौड़ा और करके कारक हो रहे थे उनका भी काम करते ही है इसलिए बड़ी जोर से वो चित्कार अपने गर्जा बड़ी जोर से और भगवान की तरफ दौड़ा और में सिद्ध सो हा हा ये तो पुकार और जब इस प्रकार मुंह फैला करके दौड़ा भगवान की तरफ तो आकाश में देवता लोग सिद्ध लोग ये सब आकाश में थे वो सब देख रहे थे भगवान के युद्ध को तो जब उसमें कुंभकर्ण की युद्ध का ऐसा भयंकर रूप उसका देखा तो वो सब चिल्लाने लगे हाँ क्या करेगा क्या करेगा तो सबको खा जाएगा अब जब तो उससे बुझाए कभी तब भी इतना भयंकर दिखाई देता है तो तीनों लोगों को खा जाने के लिए मना दौड़ रहा है तो उसके उस भयंकर को रूप देख करके सब हा हा पुकार चिल्लाने लगे अब आगे देखो उसका वजूद का क्या होता है ये सभय देव करुणा निधि जानियो श्रवण पर्यंत सरासन तानियो किसी के निकर चर मुख भरे तदपि महाबल भूमि न परे मंत्र कर लीना धरते भिन्नता सिर कीना तो सिर परे दसान में आगे विकल भयो जिम फन मन त्यागे धरन दसई धर धाव प्रचंडा सब प्रभु काट कीन दुई तो खंडा परे भूम जिमी नभते भूदल एक दावि कपि भाग निशाचर सात तेज प्रभु बदन समाना सुरमन सब ही अचंभव माना दुन्दुभी बजावै हरसै अस्तुत करैं सुमन बहु बरसै कर बिनती सुर सकल सिधाए देही समय के ऋषि आए गगनो परिहरि गुणगन गाये दूसरे वीर प्रभु मन भाए खल कहे मुनि गए राम समर मई सोबत भय संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल को सलधनी श्रम बुंद मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित तनी सर सरासन भानु कपि चौदिसी बने कहतात तुलसी कई न सत विशेष जही आनंद घने निश्चर अधम मला साहि दीन निज धाम गिरिजा के नर मंद मते जैन भजन श्री राम श्री राम सियावर राम चंद्र की है पवन सुख हनुमान की है बोलो हरि सब संतन की है तो सभा देव करुणा ने जानो जब आकाश में देवता लोग जो भयभीत हुए और उनकी कारुणी दशा भगवान ने जानी तो श्रवण पर्यंत सारा संतान है और तब फिर धनुष के ऊपर बाढ़ चढ़ाया और जोर से बाढ़ को खींचा काम तक खींचा मैंने ज्यादा शक्ति लगा करके बाढ़ चढ़ाया अब एक बात इसमें देखेंगे तो तुलसीदास जी बड़े सावधान इस बात में है कि भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं करते मैंने भगवान जो है वो अकर्ता है कोई नहीं करते अब वो देवता लोग हैं वो आंख उनके देखते हैं इसके देखते हैं और जब वो पुकार करते हैं तो उनके लिए भगवान जो है वो धनुष चढ़ाते हैं जीतते हैं कुंभकर्ण को मारते हैं तो अब देवताओं अब जैसे कोई कहे कि देखो आजकल इतना भ्रष्टाचार फैल गया है भगवान अवतार को नहीं देते जगह जगह जाओ तो लोग बहुत कहते कितना धर्म फैला हुआ है कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भगवान अवतार नहीं देते तो भगवान रोजगार लेना चाहिए हाँ। तो भगवान अवतार ऐसे नहीं लेते जब तक भ्रष्टाचार फैला रहे चाहे मरते रहे लोग बात कुछ भी होता रहे अब सब लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें भगवान अवतार उसमें जो लोग उससे व्याकुल हो रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचारी लोग तो खुश हो रहे बने जो पैसा देता है अपना काम बनवाता वो भी खुश और जिसको भी पैसा मिलता वो भी खुश जब सब खुश है तो भगवान की क्या जरूरत खुश रहो अपने अब जिनको उसे तकलीफ हो रही हो तो जिनको के पैसा देना पड़ रहा हो या जिनको न मिल रहा हो और वो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हो तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही हो तो आप उनको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान आप जो है वो आप कथा करो देश की रक्षा करो हमारी रक्षा करो जैसे बालकांड में देखते हैं जब पृथ्वी पर बहुत धर्म छा गया तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं ने मिलकर के फिर भगवान से प्रार्थना की तो जब प्रार्थना की तब आकाशवाणी हुई तब भगवान ने कहा मौका दी नहीं तो भगवान का कुछ ऐसा ये थोड़े भगवान जानते नहीं सब जानते रहते हैं भाई भी जानते रहते कोई बात नहीं जैसे आजकल की पुलिस हाँ? पुलिस के सामने चौराहे पर खड़ी रहे और आदमी दो आदमी लड़ते रहे लड़ते रहे तो वो भी देखते रहेंगे सब तमाशा देखते रहते भी देखते रहेंगे अब जब उनमें से कोई जाकर के थाने में रिपोर्ट करे इसने मुझे मारा उसने मुझे ये किया हाँ दिखाओ अभी हम चलते हैं अब चलेंगे जब तक थाने में रिपोर्ट आएंगे तब पुलिस वाला देखता रहे वो काय बीच में पड़े चलते रहो शायद खेल ही रहे हो मनोरंजन कर रहे हो सारे वो तुमको तुम्हारे भी कर रहे ऐसे ही इस संसार में जाइए है देखते हैं कि ये जब जब देवता लोग परेशान हुए फिर आकाश में इन लोगों ने अपना दुख आत्म वचन सुनाए तब भगवान जो है अपना खाते हैं और कृष्ण को मकान समाते दूसरी बात ये प्रसंगानुकूल यहाँ पर ये है कि हमें अपने हृदय में जैसे कि पहले बताया कि वो पाई पाई पर तार सहारी लोगों ने भगवान की शरण में गए देवता लोग भी इसी प्रकार से हाँ, हाँ ये तो पुकार देवताओं ने भी किया तो भगवान से कुंभकर्ण को मार कोई व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान में हो चाहे जितना दुख परेशानी में हो भगवान उसका उद्धार अपने आप नहीं करते अगर उसका उद्धार कर दे तो हो सकता है वो भगवान से नाराज हो जाए वो कह आपने कितने कहा था तो भगवान कहते जाने से अनावश्यक इंटरफियर नहीं करते जब जो है वो स्वयं पुकार करे सहायता मांगे सब देखा जाएगा तब हम कुछ करेंगे सब तक नहीं करेंगे इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरत भगवान से यदि संकट लगता है दुख लगता है परेशानी लगाई देती है तो भगवान की प्रार्थना कर, प्रार्थना करने से भगवान से जो है वो इन्वोकेशन कहलाता है प्रार्थना क्या है इन्वोकेशन इन्वोक भगवान के हृदय जगह जाप से ही है भगवान से सक्रिय हो जाते हैं तरक्का तो अच्छा। प्रार्थना कर रहा है तो अपना धर्मपाण उठाए और तैयार हो गए देखो हम तुम्हारी समस्या हल करते हैं अभी इसको मारते हैं अभी इसको ठीक करते हैं तब आश्वासन भगवान की तरफ से आएगा इसलिए कहते हैं जिसे निकर निष्कर्म को भरे भगवान ने बाढ़ छोड़े जिसे मन बाण वो भगवान ने छोड़े निकर मन समूह तमाम मारे के बाद एक बाढ़ छोड़े इतने बाढ़ छोड़े वो बड़ा भारी मुंह फैला करके जो दौड़ा था वो सब उसका मुंह बाढ़ से भर गया वो मुँह फैलाए हुए अपना पूरा और सब उसके सेट साफ अब वो बंद नहीं कर सकता फैलाए हुए तो मुँह अब नहीं हो सकता तो जैसे समीकरण निश्चर मुख भरे हो सदा भी महाबल भूमि न पड़े हो इतना मुँह बाई बांस बांस जाकर के मुँह में छिल भी गए मुँह भर भी गया लेकिन इतना होते हुए भी न वो बेहोश हुआ न जमीन में गिरा वो फिर वो मुँह में बांस भरे हुए और बिना हाथों का के ऊपर धमाधम कूद रहा है कहते हैं कि शरण भरा मुख मुख धावा मुंह में भरे हुए बाण लेकर के वो भगवान की तरफ आगे धमाधम आगे बढ़ते चला जा रहा था और काल क्रोण सजीव जनु आवा ऐसा लगता था कि जैसे काल क्रोण आ रहा क्रोण माने तर्कस ऐसा तर्कस जिसमें कि तमाम बाण खड़े हो और वो तर्कस जो काल हो माने ये उसका मुंह मानो काल के समान और उसमें बाण जो भरे हुए हैं उत्तर तट में जैसे बाण भरे हुए प्रकार से वो चला रहा है मैंने सबका बिना विध्वंस कर देगा मार देगा ऐसा करके चला रहा है भरा हुआ तब प्रभु को भी तीव्र कर लेना तब भगवान ने फिर ये सब जितने बाण थे इनमें ज्यादा नोक नहीं थी अब जब भगवान ने बांध दिया तो तीव्र बाण को ज्यादा नोकीला बांध दिया कि लगे तो कट जाए तो कहते सब प्रभु को भी तीव्र कर लेना और धरते भिन्न का हुआ आकर के वो बाण भगवान का उसकी गर्दन में लगा दो गर्दन कट गई और जब वो सिर सिर धड़ से अलग हो गया लेकिन सिर धड़ से तो अलग हो गया लेकिन सिर जमीन में गिरा रहे वो शरीर का सिर का क्या हुआ वे देखो कहते सो सिर पर उठाना में आगे वो बाण वो धनुष सिर लेकर के भागा और ले जाकर के उस सिर को रावण के आगे रखा या युद्ध क्षेत्र में कुंभकर्ण का शरीर रह गया धड़ रह गया बिना सिर का और बाहे कटी पड़ी है धड़ है सिर है ही नहीं बस पैर है पेट और तो छाती इतना सब उसका जो वो अंग रह गया लेकिन गिरता ये भी नहीं यही खड़ा रहता वैसे तो किसी व्यक्ति को थोड़ी चोट मिल जाती तो बेहोश होकर पड़ता है वो सब इतना सब तक कट गया लेकिन उसका धड़ वैसे इतना भी खड़ा हुआ है फिर जाकर रामा के सामने गिरा तो रावण को क्या हुआ वहाँ पर कहते विकल भय जो फने मन आगे रावण ने जब देखा कि कुंभकर्ण का सिर आकर के सामने गिरा तो उसने दिखारे कुंभकर्ण का सिर तो कट गया इसके माने कुंभकर्ण को तो मारा गया और कुंभकर्ण को मरा जान करके रावण जब वो हो दुखी हो और ऐसा विकल होने लगा दुखी होने लगा जागरूक हृदय से जैसे सर्द की मणि खो जाए मैंने रावण ही समझता था कि मेरी बहुत बड़ी शक्ति तो ये कुंभकर्ण ही है कुंभकर्ण की शक्ति के ऊपर उसे बड़ा विश्वास था और वही कुंभकर्ण का सिर आकर के उसके सामने आकर के गिरा अब रावण के दिमाग में सब बातें घूमने लगी उसको सोचने लगा कि देखो कल के युद्ध में मेघनाथ ने रावण को शक्ति जब तो लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी तो शक्ति तो लगी और लक्ष्मण जी दोष भी हो गए लेकिन मेघनाथ को लक्ष्मण को उठा नहीं पाया हार करके चला आया हनुमान जी उठा करके ले गए अब ये देखो जब तुम मेघनाथ में इतनी शक्ति थी जीवित प्राणी था व्यक्ति था वो उनको नहीं उठा पाया लेकिन देखो इतना विशाल इसका पर्वताकार है कुंभकर्ण का और एक जल बाढ़ उठा करके ला करके उसने मेरे सामने रख दिया तो देखो इस बाढ़ में इतनी ताकत उस तिर को ला करके मेरे सामने पहुंचा दिया तो ये देख करके की भी बड़ी उसकी है ये देख करके बड़ा उसको दुख हुआ ये सब स्थितियाँ याद करके देखो हमारा बल कितना इनका बल कितना तो उसको सिद्ध होता जाता है रावण को कि हमारा बल इनके सामने चलने वाला है जैसे लंका जलाया है हनुमान तब से रावण धीरे धीरे करके उसका बल घटता जाता है और उसको धीरे धीरे करके निराशा आती जाती है आती जाती है लेकिन एक बार उसने निश्चय कर लिया मुझे तो युद्ध करना है इसे और मुझे ऐसी बात को वापस नहीं करना है अब वो हर गर्मी के पीछे वो अपने जटा हुआ है बस और कुछ नहीं है लेकिन वो अपने भीतर भीतर कमजोर होता चला जाता है पूर्व <coughs> कर्म को भी जब देखा कि आकर सर अपने सामने गिर पड़ा आकर के तब रावण और भी वो हो दुर्बल हो गया अब तुलसीदास जी इन सब बातों के यहाँ विस्तार नहीं करते आपको इनका विस्तार देखना हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो पवन पुराण पढ़ो भागवत पुराण पढ़ो तो कोई कथा कहीं की कोई कथा कहीं बड़ी विस्तार से कथाएं हैं एक महारामायण भी है संस्कृत में उसमें बहुत श्लोक है बड़ा विस्तार है अब जैसे बताया कि जब ये तो फिर जाकर के रावण के सामने गिरता है तो रावण किसने से कहिए विकल्प भाई उज्जैन में फनी मन से आगे इतनी बात खत्म हो गई क्योंकि महारामायण तो है नहीं अब इसका तो है नहीं की ये दस बीस हजार रुपये तक चलती चली जाए तो इसको तो छोटे में संक्षेप में समाप्त करना है इसलिए यही बात खत्म हो गई दूसरी रामायण देखो तो रामायण जितनी बातें सोचता है सबका वर्णन मिलेगा अब हम्म। इसके बाद क्या हुआ इधर युद्ध क्षेत्र में ये धरण दशई धर धाव प्रचंडा अब वो उसका लुंड कहलाता है उतना बस उसका शरीर वो युद्ध के क्षेत्र में दौड़ता है दौड़ता है तो उसके धमाधम धमाधम कर रखता है धरण दशई पथरी धरती है जब वो चलता है धर धाव प्रचंडा उसका प्रचंड शरीर पृथ्वी पर चलता तब तो काट और देखा कि उसका शरीर अभी दौड़ रहा है इस क्षेत्र में तो भगवान ने काट कर उसको दो टुकड़े कर दिए हम्म? तो परे भूमि में नदी के भूधर मान लो ऐसा बाण मारा कि ऊपर से नीचे तक ऐसे कट गया यहाँ से यहाँ तक कट गया फिर टांग रंग गिरी टाइम अब एक टांग से तो खा नहीं रह सकता तो अब वो गिर पड़ा इस प्रकार से जमीन पर गिरा तो परे घूम जिन लभते भूधर और वो भी इतने बड़े बड़े उसके शरीर के टुकड़े हैं कि जमीन पे ऐसे गिरते हैं जैसे पहाड़े के पास <coughs> जब पहाड़ गिरेगा तो उसके नीचे दब जाते हैं लोग तो यहाँ तो अब उसको दिखाई तो कुछ देता नहीं उसको कुंभकर्ण को सिर से कट गया है अब घर जब उसका जमीन पे जब गिरता है तो क्या होता है कि हेठ दांत कभी भाग कर और उसके शरीर हेठ कभी नीचे हेठ दांत उसके शरीर के नीचे दब जाते हैं कौन कौन मानर भालू और निशाचर भी नहीं बचते जो उसके पास जो भालू थे वो भी शरीर रिंग से दब गए वो भी शरीर रिंग से दब गया और उसकी सेना के निशाचर भी है वो भी दब गए अब उसको अपना पराया कुछ सोचता नहीं हमारी सेना की कौन दूसरी सेना भी वो देख नहीं सकता अब शरीर तो पर्वत जड़ते गिरते हैं जड़ शरीर की तरह से गिरे और तमाम साचर तमाम भालू तब करके मर गए उसके शरीर से मैंने अंत तक जब तक वो मरता मरता है तब तक इस प्रकार से मार करके मरता बिना सीधा करते हुए और बड़ी मुश्किल में मरता है को कितने ऐसे टुकड़े किए गए ये सूचित करते हैं कि आप ये ना समझो कि बस ये अहंकार क्या है ये तो हमारी कल्पना मात्र है हम अहंकार नहीं करें खत्म हो जाए हो गया खत्म ऐसा कदम कैसे कैसे ये लक्ष्य होता उसको कहते उसके बाद में क्या हुआ कि ताज ताप तेज प्रभु बदन समाना अब और उसके अंदर जो जीव था प्राणी था जीव कोष के शरीर से निकलता है और भगवान के मुख में प्रवेश कर जाता है पदमन मुख भगवान के मुख में प्रवेश कर और सुरमुनि समय असंभव माना मुनि देवताओं ने देखा कि कुंभकर्ण जैसा निशाकर और उसका भी भगवान के मुख में वो प्रवेश कर गया यानी भगवान को ही प्राप्त हो गया जो गति मुनियों को देवताओं को दुर्लभ है वो कुंभकर्ण को प्राप्त हो गया हम्म? तो कैसे निशाकरों को ऐसी गति कैसे प्राप्त हो सकती संस्कार प्राप्त हो अब ये अचंभव की बात करें वेदांत में बड़ी अचंभव की बातें सब एक्सप्लेन की गई उसमें बताया गया कि अहंकार क्या है कि अहंकार एक वृत्ति है प्रतिबंध तरंग की तरह से समुद्र के ऊपर एक लहर कोई हो इस प्रकार से अहंकार की वृत्ति है तरंग जैसे उत्पन्न होती रहती लीन होती रहती उत्पन्न होती लीन होती रहती इस प्रकार चलती रहती तो जब लीन होती है तो भी लीन होकर के फिर उत्पन्न हो जाती ऐसे अहंकार से चित्तावस्था में लीन हो जाता है सप्तावस्था जागृतावस्था में फिर आ जाता तरंग की तरह से फिर से संतावस्था आ गई तो वो फिर अहंकार लीन हो जाता है फिर जागृतावस्था सपना आ गई फिर उत्पन्न हो जाता है तो उत्पन्न होता लीन होता उत्पन्न करने की तरह से प्रभावित रहता है बराबर जन मानता चलता रहता है जब इस अहंकार का लय होता है तब जब तरंग तरंग का अगर मन समाप्त हो वो तरंग तो क्या होगा वो तरंग पानी में समा गई कभी समाप्त होगी अब तरंग के नष्ट होने में कोई दूसरा उपाय नहीं सिवा इसके पानी में समा जाए तो दोबारा उत्पन्न हो तो समाप्त हो जाए किसी प्रकार से अहंकार के समाप्त होने का और कोई उपाय नहीं अहंकार का अधिष्ठान रूप जो कूटस्थ चैतन्य है उसी में ही समा जाए वो परमात्मा स्वरूप है तो उसमें अहंकार समा जाए तो अहंकार नष्ट होगा तो कहाँ जाए तो परमात्मा विलीन हो जाए इसलिए वेदांत में कहा जाता है जब अहंकार नष्ट होता है तो उस अहंकार के स्थान पर ये लौकिक अहंकार ये वैश्विक अहंकार जब नष्ट होता है तब एक अहंकार और उत्पन्न होता है वो शुद्ध अहंकार परमात्म भाव का अहंकार है कि हम तो वो निर्विकार शुद्ध चेतना है जो सर्वत्र विद्यमान है वो अहंकार जागृत होता है और वो अहंकार कल्याणकारी है मुक्तदायक है वो परमात्मा का अहंकार बस उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती जब तक जीव का अहंकार है तब तक परमात्मा भाव का अहंकार नहीं आता जब परमात्मा भाव का अहंकार आ गया तो जीव भाव का अहंकार समाप्त हो जाता है बस इस प्रकार से ये है तो मकर समाप्त हुआ सुर सुंदरी बजा वही हंसई देवता लोग प्रसन्न हो गए बाजे बजाने लगे अभी दुखी थे दैवीत थे आपस प्रसन्न हो गए अस्तुत तो करें समन बहु बरसई भगवान की खुशियाँ करने लगे और फूल बरसा करने लगे किसी समय कर विनती सुर सकल सिधाए देवता लोग अपनी अपनी विनतिया करके भगवान की जयकार बोलते हुए विनती करने वाले भगवान के दान करते हुए भगवान तो सर्वशक्तिमान है देखो कुंभकर्ण को मार दिया हमारी रक्षा की हमारा उद्धार किया इस प्रकार से बोल करके वो चले गए सोचते ही समय देव ऋषि आए देवताओं के जाने के बाद देवर्ष नारद जी आते नारद जी ने भी आकर के भगवान की स्तुति की गंगनों पर हरि गुणगन गाये गंगनों पर मैंने आकाश में पृथ्वी पर आकर के उनके सामने नहीं आए भगवान के सामने अप्रगट होकर के जैसे देवता लोग बिना प्रकट हुए आकाश में रह करके भगवान की स्थितियाँ गा रहे थे देवर्ष नारद ने भी वही किया भगवान के गुणगान किए उनके गुणगान मैंने युद्ध लीला का वर्णन किया भगवान कैसे सर्वशक्तिमान है देखो कुंभकर्ण को किस प्रकार विनाश कर दिया कैसे कैसे भगवान ने बाण मारी कैसे कैसे उसका अलग कर दिया ऐसे करके नारद जी जब उनके गुणगान गाते हुए और फिर वीर प्रभु मन भाए भगवान ने जो वीर की लीलाएं की थी उनका वर्णन करते हुए नारद जी आए प्रार्थना की वंदना किए चले गए <clears throat> कहीं मुनि गए जाते जाते नारद जी भगवान से प्रार्थना कर गए कि आपका ये कितने दिन तक चलेगा हम्म? अब इसको जल्दी ही इन छात्रों को बंद करो रावण को भी मारो खत्म हो सके हम्म? ऐसे प्रार्थना करके भगवान से देवर नारक तो राम समर महाशोधित भय भगवान युद्ध क्षेत्र में कुंभकर्ण के ऊपर विजय प्राप्त करके <clears throat> युद्ध क्षेत्र में वहीं खड़े हुए हैं अब देखो भगवान की जगह जगह झांकियों का वर्णन है झांकियों मैंने कैसे भगवान सुंदर है अब आज भगवान ने युद्ध किया दिन भर तो युद्ध नहीं किया लेकिन मध्यान्ह काल के बाद काल तक आधे दिन तो भगवान ने कुंभकर्ण से खूब युद्ध किया और बड़ा परिश्रम किया तो इस समय वीर रस में भगवान जो है युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं तो उनका ध्यान वीर रस में भगवान का ध्यान कैसा अब कैसे दिखाई दे रहे हैं भगवान उसका वर्णन तुलसीदास जी करते तो जगह जगह जहाँ जहाँ भगवान के विशिष्ट स्थल है जैसे फोटोग्राफर ऐसे होती है चलता रहता है जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम चल रहा है तो फोटोग्राफर अपनी कैमरा दिखा रहेगा लेकिन जब देखेगा कि कहीं पुरस्कार दिया जा रहा है या कोई खड़ा हुआ बोलने के लिए या कोई माला पहना रहा है तो घर से उसको जो अपना क्लिक फोटो खींच इसी प्रकार से तुलसीदास क्या करते हैं भगवान की सब लीलाएं चलती रहती चलने दो अब यह फोटो खींची जा रही है उनकी भगवान की अब इस समय युद्ध हो गया कुंभकर्ण मारा गया कुंभकर्ण का तेज भगवान के मुख में समा गया अब युद्ध क्षेत्र भगवान खड़े हैं तब देखो अब उनका फोटो देखो कैसा संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल सल धनी संग्राम भूमि में भगवान श्री राम जी समय विराजमान अतुल बल उनकी शक्ति के क्या सीमा नहीं कोई अतुल बल वाले कौशल धनी कौशल धनी मैंने कौशलाधीश भगवान श्री राम जी है रघुपति है कौशलाधीश है ये भगवान इन्हें रघुपत इत्यादि शब्दों को वैसे तो रघुवंश के श्रेष्ठ है इस प्रकार से तात्कालिक अर्थ तो ये है वैसे रघु का सांकेतिक अर्थ जीव समस्त प्राणियों के जो स्वामी है वो भगवान राम है ऐसे करके उनकी जय जयकार करते हैं अपने भगवान के संग्राम भूमि में भगवान का स्वरूप सुंदर स्वरूप कैसा है शरण बिंदु मुखरा जीवलोचन उनके मुख के ऊपर शरण बिंदु है पसीना शरण बिंदु पसीना मस्तक के ऊपर पसीना आ गया है मुख के ऊपर नाक आग के ऊपर सबके ऊपर पसीना झलक रहा है अब देखो भगवान का फोटो में पसीना आ गया और राजीव लोचन और उनके कमल जैसे सुंदर नेत्र है अरुण भगवान के नेत्र जैसे उनके क्रोध करके युद्ध किया उन्होंने इसलिए आंखें लाल हो गई हैं <clears throat> लाल कमल के समान उनके नेत्र हो रहे और तण तो कहीं और शरीर में जगह जगह रक्त की बूंदे झलक रही जैसे कोई घायल हो जाए और उसको उसके शरीर में जो है वो हो <clears throat> खून की बूंदें झलक रही हो वो झलक रही भुज जुगुल फेरत तो सर सरासन दोनों हाथों में एक में धनुष लिए एक में बाढ़ लिए हुए हैं और उनको फेरत मैंने उनको घुमा रहे अभी अभी तक धनुष बाढ़ खुद चलाए इसलिए जो कार्य व्यक्ति करता है तो उसके बाद भी कार्य समाप्त हो जाने के बाद में थोड़े बहुत हाथ उसी प्रकार चलते रहते हैं इसलिए भगवान अपने धनुष बाढ़ों को घुमा रहे हैं बाढ़ों को लिए हाथ में फेर रहे हैं धनुष को लिए भी ऊपर नीचे कर रहे हैं भालू का पीछा उद्देश्य बने और बानर भालू सेना सब भगवान को घेरे हुए चारों तरफ से खड़ी हुई है बीच में भगवान इस प्रकार से खड़े हुए कहदास तुलसी कही न सके छवि और भगवान की जैसी सुंदर शोभा इस समय है तो तुलसीदास जी का क्या बतावे कैसी सुंदर शोभा भगवान की है कहते हैं कि शेष जय आनंद घने शेषनाथ जिनके की बहुत मुख है हजार हजार के फल है वो भी भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करें तो वो नहीं कर सकते तो भला हम एक मुख्य क्या करें कैसे करके अपनी असमर्थता तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं तो इसके माने ये कहना चाहते हैं कि भगवान को संग्राम भूमि में खड़े हुए ऐसे सुंदर स्वरूप भगवान के भगवान का सुंदर युद्ध भूमि में भी जब पसीना आ रहा हो अरुण नयन हो शरीर में रक्त भूमि छाई हुई हो और बाल हाथ में ये घुमा रहे हो ये भी एक भगवान का चित्र है उसको देखो याद करो तो निश्चर अधम मलाकर सत्ता ही दीन निज धाम अब शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे तो देखा पार्वती जी क्या हुआ निश्चर अधम देखो ये तो निशाचर था बड़ा ही अधम था और मन आकर हमारे सारे दोष ही दोष इसमें भरे हुए थे ताही दीन निज धाम भगवान ने देखो ऐसे कृपा निधान भगवान ने उसको भी अपना धाम दिया भगवान के मुख में सुना गया वैकुंठ धाम प्राप्त हुई गिर जाते नर मन मती मन इस कथा का अंत में जो निर्णय होता है कथा से क्या शिक्षा दी